और ये कि हमारे परवरदिगार की बहुत ऊंची शान है उसने न कोई बीवी रखी है और न कोई बेटा